प्राप्ति का एक उपाय है श्रवण हाँ, वेदांत शास्त्र में इसको अंगी बोलते हैं वो अंगी अंगी माने मुक्त एक ही उपाय है परमात्मा को आत्मा को साक्षात्कार करने का केवल श्रवण तो वेदांतियों ने श्रवण के लिए बहुत से झगड़े लगाए पहले धर्म का अनुष्ठान करके अपना कर्म शुद्ध करो उपासना का अनुष्ठान करके वासना मिटाओ योग करके मन की चंचलता मिटाओ सुनने को तो बहुत मिलता है लेकिन ये भी सुनने भर के लिए मजेदार है दुनिया का कोई भी शरीरधारी व्यक्ति न तो संपूर्ण रूप से निषिद्ध कर्म का त्याग कर सकता है कुछ न कुछ तो उसके द्वारा निषिद्ध कर्म होगा ही होगा विष्णु से भी होता है शिव से भी होता है ब्रह्मा से भी होता है राम से भी होता है कृष्ण से भी होता है समग्र रूप से निषिद्ध माने मना किया हुआ जो काम है उसको कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से छोड़ सके ऐसा संभव ही नहीं अच्छा एक दूसरी बात जो विहित कर्म है ये करना चाहिए क्या क्या करना चाहिए इसकी जानकारी सैकड़ों वर्ष में पाना भी मुश्किल है एक एक इष्टियां ऐसी होती हैं जो हजार हजार वर्ष में पूरी होती तो कोई कहे कि हम संसार के सब विहित कर्म कर लेंगे हाँ, तब हमारा कर्म शुद्ध होगा का ऐसा भी नहीं होगा अच्छा कितनी भी उपासना करो अनादिकाल से अब तक मन में वासनाएं होती रही हैं जितनी देर उपासना करोगे उतनी देर उनका रंग बदल जाएगा वो इष्टाकार भाषेंगे और जहां उपासना छोड़ के बैठे बिल्कुल रंग बदल जाएगा प्राणायाम करोगे प्रत्याहार करोगे धारणा ध्यान करोगे थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र हो जाएगा जहां महाराज ध्यान की पकड़ छोड़ी कि मन चंचल का चंचल कुत्ते की पूछ पे गई देखो तो ईमानदारी की बात है एक टेला बनाने की बात होती है एक ईमानदारी की तो न तो निषिद्ध कर्म का पूर्ण रूप से कोई त्याग कर सकता और न तो विहित कर्म का पूर्ण रूप से अनुष्ठान कर और न तो मन हमेशा के लिए वासना रहित हो सकता क्योंकि जिसकी आदि नहीं है कब से अनादिकाल से वासनाओं का अभ्यास करते करते मन वासना से वासित हो गया है वासनाओं का पुंज है चंचलता इसका स्वभाव है इसलिए सत्य क्या है इसका श्रवण अंगी है बोला हाँ, उच्च कोटि का जो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है वो आपको सुना रहे हैं तो तब आप सत्य का स्वरूप क्या है इसका श्रवण करें उसमें भी झगड़ा लगा दिया क्या तो साधन चतुष्टय पहले होना चाहिए नित्यानित्य वस्तु विवेक यहा फल भोग विराग समाधि सठ संपत्ति मुमुक्षा करो महाराज आपको इसका भी सार सार सुनाता हूं बोला बोले कि नहीं ये जो चार है ना ये चार नहीं है असल में दो ही है संक्षेप करते हैं लोग कम से कम निकाल रहे हैं तो नित्यानित्य वस्तु का विवेक तो वैराग्य का अंग है माने जब आपके अंदर विवेक शक्ति जागृत होगी और क्या नित्य है क्या अनित्य है क्या चेतन है क्या जड़ है क्या आत्मा है क्या अनात्मा है और क्या सुख है क्या दुख है नित्यानित्य शब्द जो है वो जड़ चेतन और सुख दुख है इनको भी अपने अंदर रखना है आप विवेक कीजिए विवेक माने अलग अलग कीजिए हाँ। विचिर पृथक भावे दो चीज एक में मिल गई हो तो उनको अलग अलग हाँ, विश्लेषण हाँ, जैसे दो रसायन एक में मिल गए हों तो लेबोरेटरी में उनको अलग अलग करके देख लेते हैं ये क्या है और पानी में दो गैस हैं और दोनों गैसों को अलग अलग करके देखा पानी उड़ गया तो विवेक माने विश्लेषण दो चीजें एक में मिली हुई हों तो उनको अलग अलग करना विचिर पृथक भावे विवेचनम विवेक पृथक भाव हाँ। अलग करने का नाम विवेक है तो अलग अलग करने से क्या हुआ कि अनित्य से राग कम होगा एक आदमी हो वृंदावन में किसी पर बहुत नाराज था उसने उड़िया बाबा जी से आके कहा कि महाराज मैं इसको मार डालू छोड़ नहीं सकता हमारे पास पिस्तौल है हम इसको मार डालेंगे बाबा ने कहा बेटा तू काहे को हत्या लेता है ये तो छह महीने के भीतर ही मर जाएगा जब अपने आप ही मरने वाला है तो तू मार के हत्या क्यों लेता है हंस गए हो अब वो महाराज अभी तो इस बात को 35 बरस हो गए वो आदमी जिंदा है जिसको उन्होंने छह महीने में मरने को कहा था ना वो जिंदा है वो है ना परंतु जब मारने वाले को ये मालूम हुआ कि छह महीने में मर जाएगा हाँ, तो उसका क्रोध कम हो गया उसने कहा अब हम मार के हत्या क्यों लें तो ये संसार तो अनित्य है अपने आप बदल रहा है जा रहा है तो नित्य अनित्य से राग मत करो नित्य से राग करो जो अनित्य है सो जड़ है जो नित्य है सो चेतन है, है? हाँ? हाँ, जो अनित्य है सो दुख है जो नित्य है सो सुख है तो इससे क्या हुआ तो बैराग्य हुआ किससे का अनित्य से जड़ से दुख से बैराग्य हुआ तो असल में विवेक तो अंग साधन है गौण है और वैराग्य जो है वो मुख्य साधन है संसार में कहीं रागत द्वेष नहीं होना चाहिए वैसा चलो विवेक को तो वैराग्य में मिला दिया और स्वम तम अति प्रतीक्षा श्रद्धा समाधान जो है वो तो बोले वो मुमुक्षा के अंग है कोई संसार से मुक्त होना चाहता है और गुस्से में व्याकुल रहता है कामना से क्रोध से व्याकुल रहता है लोग से तड़पता रहता है बोले हम महाराज संसार से छूटना चाहते हैं एक आदमी कहता था बस महाराज अब हम व्यापार से मुक्त होना चाहते हैं शाम को दो पांच लाख रुपए का और व्यापार करके आया हम व्यापार से मुक्त होना चाहते हैं छूटना चाहते हैं अरे बाबा ऐसे नहीं छूटना ऐसे नहीं छूटना एक सज्जन थे वो अपनी पत्नी से कहते हैं बस बस मैं अब सन्यासी होना चाहता हूँ बस अब छोड़ के जाना चाहता तो अब रोज रोज रोवे बेचारी डरे पत्नी एक महात्मा मिल गया उनसे कहा महाराज हमारे पति रोज धमकाते हैं हमको कि हम सन्यासी हो जाएंगे घर छोड़ के चले जाएंगे बोले कि तू एक दिन कह दे कि जाते क्यों नहीं क्यों नहीं चले जाते हाँ, महाराज उसने ऐसा ही किया कह दिया कह दिया कि चले क्यों नहीं जाते अरे बोले बा हमको भेज के तुम मौज करना चाहती हो बोले हम तुमको मौज करने के लिए घर पे छोड़ के जाने वाले नहीं है जब तुम मर जाओगी जब जाएंगे <laughs> ऐसे नहीं काम क्रोध से आदमी व्याकुल हो इंद्रियां बस में ना हो और कर्म करने में बहुत रुचि हो और दुख का सहन ना होता हो कभी भूखे ना रह सकता हो कि हम संन्यास लेंगे त्याग करेंगे वैराग्य करेंगे हाँ, भूख तो सहन नहीं होती है प्यास तो सहन नहीं होती है गाली तो सहन नहीं होती है, है? मन तो एक क्षण के लिए एकाग्र नहीं होता है हाँ, गुरु पर शास्त्र पर ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है किसके बल पर त्याग करोगे त्याग बल ही बल ही नहीं है तो समाधि सब संपत्ति है साधन अंग है और अंगी है मुमुक्षा मुमुक्षा तब पूर्ण होते हैं जब समाधि साधन होते हैं तो देखो चार का दो हो गया हो असल में यदि वैराग्य होए हाँ, हाँ। हाँ, तो विवेक उसमें समा गया और मुमुक्षा हो तो समदमादी संपत्ति अपने आप जीवन में आ गई लेकिन ये दोनों भी मुख्य साधन नहीं तो, कभी <clears throat> वृंदावन में श्री कर्पात्र जी महाराज आए थे तो वो हमारा ये ब्रह्मसूत्र प्रवचन है ना इसको उन्होंने पहले को तो तीन दिन में पूरी तरह से बांट लिया और फिर मैंने दूसरे दोनों भाग जो है वो उनको अपने हाथ से दिया तो उसमें एक जगह ऐसी बात लिखी है प्रवचन में मैंने कहा होगा और अब भी कह देता हूं क्या बात कि ये साधन चतुष्टय कितने दिन तक रहे सब अंतकरण शुद्ध होता है कहीं ऐसा ऐसा लिखा है ऐसा प्रवचन में ऐसा कहा होगा लिखा है कि तो भाई छह महीने से साधन चतुष्ट रहे कि छह बरस रहे और कि छह मिनट रहे कि तीन मिनट रहे ये बात तो शास्त्र में कहीं नहीं लिखी है देखो ऐसे बोल देना जो है वो एक बात है पहले कोई सब शास्त्र पढ़ ले सब कहे कि तो शास्त्र में कहीं नहीं लिखी है है शास्त्र में ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है कि छह बरस अंतकरण शुद्ध रहे कि छह महीना रहे कि छह दिन रहे कि तीन दिन रहे कि तीन मिनट रहे शास्त्रीय नियम ये है कि तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक क्षण में अंतकरण शुद्ध रहना चाहिए एक क्षण एक सेकेंड हो क्षण माने सेकेंड एक सेकेंड अगर अंतकरण शुद्ध है और उसी समय महावाक्य श्रवण करने को मिला तो तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए तो उन्होंने पढ़ रखा था हमारे उसमें हाँ फिर तो हंसे बहुत हंसे हमारे एक शिष्य हैं शंकरानंद जी बहुत गड़बड़ हो जाते हैं बड़े शास्त्रार्थी हैं वो हाँ, घूम घूम के लोगों को हराते फिरते हैं हाँ। तो उन्होंने जाके ये प्रश्न कर्पात्री जी से कर दिया महाराज हाँ। कितने दिन तक अंतकरण शुद्ध रहे तो ज्ञान होगा तो बोले कि तुम्हारे गुरुजी जैसा कहते हैं वैसा ठीक है तो <laughs> वही ठीक है जैसा तुम्हारे गुरुजी कहते हैं <clears throat> है नहीं कहीं शास्त्र में बात है नहीं अंतकरण की शुद्धि शुद्धि सारी जिंदगी महाराज हाथ धोने में बीत गई खाओगे कब अरे हाथ धोया जाता है भोजन करने के लिए है? और तुम्हारा तो सारा जीवन हाथ धोने में बीत गया अब भोजन करोगे कब करोगे एक पागल स्त्री थी अमृतसर में वो दिन भर हाथ धोती रहती थी वो जाके हमने देखा था सारे अंगुली सारी अंगुलियां फूल गई थी सफेद हो गई थी हाथ हथेली फूल गई थी सफेद हो गई थी लोगों ने ये निश्चय किया कि ये पागल हो गई है उसको पागल खाने में ले जाकर भर्ती कर दिया अरे बाबा जिस प्रयोजन से अंतकरण धोया जाता है साफ किया जाता है वो प्रयोजन भी तो पूरा होना चाहिए ना तत्व ज्ञान मरने के बाद के लिए नहीं है अंतकरण शुद्धि इसी जीवन में होती है तत्व ज्ञान इसी जीवन में होता है जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख इसी जीवन में मिलता है ये सब नगद माल है कोई उधार माल तो है नहीं तो उसमें ऐसे लिखा है कि भाई देखो तुम आके हमारे सामने बैठे कहा बैठे घर छोड़ के आए हो तो त्याग तो है ना यहाँ आके नीचे बैठे हो तो अभिमान छोड़ के तो बैठे हो ना नीचे बैठे हो तो श्रद्धा तो है ना श्रद्धा न होती तो नीचे क्यों बैठते हैं अभिमान क्यों छोड़ते घर का काम छोड़ के क्यों आते है तो हमारा कहना है कि तुम्हारे अंदर साधन चतुष्ट है इस समय काम क्रोध लोभ छोड़ के इंद्रियों को रोक के नीचे बैठने की तकलीफ कहते हुए है? सब काम धंधा छोड़ के बड़ी श्रद्धा से मन लगा के तुम वेदांत का श्रवण कर रहे हो बाबा तुम तो अधिकारी हो हम बोलते हैं तुम क्या हो तो बोले महाराज आपने बोल दिया और हमने सुन लिया पर ज्ञान तो हुआ ही नहीं है? बोले कि अच्छा आज नहीं हुआ तो कल कराना हाँ, इसी से अंतकरण शुद्ध होता है वो हाँ। वेदांत ज्ञान के लिए आत्मा और ब्रह्म की एकता के बोध के लिए श्रवण ही काफी है भक्ति ईश्वर की भक्ति ईश्वर के प्रति श्रद्धा ईश्वर के प्रति भक्ति होने के लिए श्रवण काफी है आप ईश्वर की महिमा सुनिए आप ईश्वर का गुणानुवाद सुनिए आप ईश्वर की कृपालुता सुनते सुनिए ईश्वर का अनुग्रह सुनिए हाँ, हाँ। ईश्वर की भक्ति के लिए ईश्वर के बारे में श्रवण कीजिए और वेदांत ज्ञान के लिए वेदांत का श्रवण कीजिए महाराज ऐसा भी वर्णन है ये भी चर्चा कर पात्र जी से हो नारायण तो जिसके अंदर न तो वैराग्य था और न तो मुमुक्षा थी तो ये त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान खंड में एक कथा है न वैराग्य न मुमुक्षा और महावाक्य श्रवण करने को मिल गया अकस्मात कोई दूसरे लोग आपस में चर्चा कर रहे थे महावाक्य की चर्चा कर रहे थे सिद्ध लोग और राजा जनक बिल्कुल अशुद्ध दशा में थे न वैराग्य था न मुमुक्षा थी मौज शौक में लगे हुए थे और कान में महावाक्य पड़ा और फट रोशनी हो गई अज्ञानांधकार मैट गया तो आप अपने बारे में कुछ भी निराशा मत कीजिए बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए मनन और निधिध्यासन भी आत्म साक्षात्कार के मुख्य साधन नहीं है संशय हो तो मनन कर लीजिए बहुत बढ़िया कहीं गिलानी होती हो तो काम मत कीजिए आपने कोई काम किया मन में गिलानी पैदा हुई तो सूरज की ओर देख के हाथ जोड़ लीजिए गंगा में स्नान कर लीजिए एक दिन व्रत कर लीजिए भगवान का नाम ले लीजिए वो ग्लानी मिटाने के लिए जैसे आपको संतोष हो वैसा कर लीजिए कोई बात नहीं है आपके मन में यदि संशय आता है शंका होती है तो उसको मिटाने के लिए मनन कर लीजिए और यदि आपका मन चंचल होता है तो उस चंचलता को मिटाने के लिए निधि ध्यान कर लीजिए लेकिन आपके मन में यदि चंचलता नहीं है और आपके मन में शंका नहीं है तो मनन और निधिध्यासन के बिना भी केवल श्रवण श्रवण ही आपका कल्याण कर देगा और महाराज वैराग्य और मुमुक्षा के बिना भी श्रवण कल्याण करेगा ये देखो शास्त्र का सिद्धांत है और बड़ा उच्च कोटि का हो बड़ा उच्च कोटि का वेदांत है इसी से वेदांत ने कहा श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्या श्रवण करो श्रवण करो श्रवण करो सुनते चलो सुनते चलो सुनते चलो ये श्रवण आपके अंतकरण में कान के रास्ते अंतकरण में घुसे प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोहम ये कान का छेद भगवान ने बनाया ही इसलिए कि दिशा विदिशा में जो तत्व परिपूर्ण है वो इस रास्ते से आपके जीवन में प्रवेश करता है धर्म सुनते हैं धर्मशास्त्र का भी श्रवण करना पड़ता है पंडित से सुनो पुरोहित से सुनो पादरी से सुनो मौलवी से सुनो धर्म भी सुनना पड़ता है क्योंकि परोक्ष है पर सुनने के बाद धर्म को करना पड़ता है यदि करोगे नहीं सुन के ही छोड़ दोगे तो वो क्रियाशील नहीं होगा हाँ, उपासना करनी पड़ेगी उपासना करने से आपकी वासना का मुंह भगवान की ओर हो जाएगा क्रोध करो भगवान पर लोभ करो भगवान पर काम करो भगवान पर है ना प्रेम करो भगवान से हाँ, वासना का मुंह भगवान की ओर हो योग में भी करना पड़ता है वो भगवान का श्रवण करने के बाद भगवान से प्रेम करना पड़ता है और योग श्रवण करने के बाद की योग कैसा होता है मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है ये ऐसी चीज महाराज जो दूर देश में कभी गई नहीं ये आत्मा अपना स्वर्ग में नहीं रहता है वो यही है जहाँ आप मैं मैं मैं ताल चलती है ना मैं मैं मैं वहीं रहता है आत्मा इसी समय आपने उपाधि इल्लत जोड़ करके है एक दीवार बना दी प्रेम कुटी छत डाल दी ऊपर मकान बना दिया नीचे की धरती का किसी को पैसा दे दिया बोले अब इसमें जो ये पोल है आसमान है वो हमारा है आसमान किसी का नहीं होता वो देश वाले बांट लेते हैं ये हमारे राष्ट्र का आकाश है ये तुम्हारे राष्ट्र का आकाश है धरती अलग अलग होती है और उसकी उपाधि से अलग अलग है धरती और धरती के अलगाव को आकाश पर आरोपित कर दे आपने अपने को कहा रखा बोले ओ हो जैसे पलंग पर मैं सोता हूँ जैसी मोटर हमारे पास है हाँ, वैसी तो किसी के पास है नहीं एक मील देखने के लिए गए थे हो हाँ, तो मिल मालिक ने बताया कि ऐसी मशीन महाराज कपड़ा बनाने की और रंगने की और एक साथ सब काम होता है हाँ इतनी बढ़िया मशीन हिंदुस्तान में किसी के साथ है मशीन बहुत बढ़िया है हम मानते हैं पर मशीन के बढ़िया होने से जो अपने में बड़प्पन का आरोप है ना वो अन्योपाधिक है तुम्हारे पास हीरा है मोती है हीरा मोती बढ़िया है हाँ। लेकिन उसकी अच्छाई से तुम अच्छे हो गए सो बात नहीं है हाँ। स्नो पाउडर की चमक से तुम नहीं चमक गए वो तो बाहर की चीज है तो भोग की विशेषता से अपने को विशेष मानना संग्रह की विशेषता से अपने को विशेष मानना कर्म की विशेषता से अपने को विशेष मानना सकल सूरत की विशेषता से अपने को विशेष मानना मन की विशेषता से अपने को विशेष मानना विद्या बुद्धि की विशेषता से अपने को विशेष मानना और चढ़ी जवानी है हो क्या पूछना है जुबा अवस्था की विशेषता से अपने को विशेष मानना बोले हमारी दाढ़ी क्यों ही आसमान में धूप में थोड़ी सूखी है हमने धूप में सुखा के दाढ़ी नहीं बढ़ाई है हाँ, धूप में सुखा के सफेद नहीं किया अनुभव और महाराज सफेद दाढ़ी दिखा के दूसरे के ऊपर रोक गाड़ते हैं अपनी उम्र बता के दूसरे को रोक पर रोक गाड़ते हैं बिल्कुल गलत है बोला किसी की सफेद दाढ़ी होने से वो बड़ा नहीं हो जाता किसी की उम्र बड़ी होने से वो बड़ा नहीं हो जाता भोग होने से संग्रह होने से कर्म होने से और हमारी बेगम साहब ऐसी है महाराज कि दुनिया में किसी के पास वैसी होंगी नहीं कर लो करो अभिमान हाँ। शराब पीने का बड़प्पन हाँ। महाराज उत्तम स्त्री का बड़प्पन हाँ। कुर्सी का बड़प्पन अरे आज है बाबा कल उलट जाएगी बोला विद्या बुद्धि का बड़प्पन काहे के किस नशे में तू उधार ले लेकर के महाराज हाँ उधार लेके साड़ी पहनी बोले मैं बहुत सुंदर हाँ उधार लेके जेवर पहना कि मैं बहुत सुंदर दूसरे दूसरे का माल लेकर के हाँ, अपने में बड़प्पन का आरोप करते हैं हे नारायण तो ये आपका भोग ये आपका कर्म ये आपका संग्रह ये आपकी सकल सूरत ये आपके रिश्तेदार नातेदार ये आपकी विद्या बुद्धि ये आपकी जवानी ये आपका बुढ़ापा ये आपको बड़ा नहीं बनाता है आप अपने स्वरूप को देखे आप क्या हैं और इसको भी सोचते सोचते आप हजार बरस बिता दीजिए कि मैं क्या हूं मैं क्या हूं आप अपने आप सोचिए कभी बात फुरेगी तो जो सुनी हुई है वो फुरेगी जो जानी हुई है जो सुनी हुई है वही फुरेगी प्रतिबंध को मिटा करके वो फुर जाएगी अरे मैं तो अद्वितीय ब्रह्म हूं तो ज्ञान तो होगा परंतु मेरे बताने से होगा मेरे सुनाने से होगा और फिर भी अभिमान होगा कि हमको तो स्वयं हुआ है अपने आप हुआ है करे नहीं भाई पूर्व जन्म के चुने हुए हम तो उस रामदेव गर्भ में थे और उनको ज्ञान हो गया हम ब्रह्मास्मि सुखदेव गर्भ में थे हाँ, उनको ज्ञान हो गया तो क्यों हो गया बिना सुना हो गया कि नहीं हाँ, सुखदेव जी ने शंकर जी से सुना था वामदेव ने सनक कुमार से सुना था उस श्रवण पर पर्दा पड़ गया था और वो पर्दा हट गया तो देखो मनुष्य का मंगल है आप जो बात बात में दुखी होते हैं ना आप सत्संग करें श्रवण करें और ये आपका चिड़चिड़ापन मिट जाएगा आप दुनिया की किसी चीज के लिए व्याकुल होते हैं एक लड़की थी एक दिन रोने लगी भले घर की थी बारह तेरह बरस की थी रोने लगी तो मैं उनके घर में बहुत घनिष्ठ रूप से रहता था वो किसी को बता रहे नहीं रो रहे तो मैंने उसको फुसलाया हाँ, तो बेटी तुमको क्या तकलीफ है किसी ने माँ ने कह दिया कुछ बाप ने कह दिया क्या तकलीफ है अब वो महाराज बहुत कम आश्वासन देने पर कि भाई तुमको जो दुख है सो हम दूर कर देंगे तो बोली कि हमको दो रुपए थे अरे बाबा दो रेप क्यों चाहती है तो दस ले बीस ले हैं रोवे तो मत दो रुपए की होती है तो बोले कि नहीं अठानवे हमारे पास हैं <laughs> अठानवे रुपए तो हमारे पास हो गए हैं सौ पूरा होने में दो कम है तो हमको दे दो रोना बंद कर देते हैं <laughs> तो देखो दुनिया में दुख कैसे होता है बोले आ बैल मोर बात एक महात्मा कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक और भिखारी सोया हुआ है बड़ा दुखी था वो और रोवे भी लेटा भी हुआ था लेटा भी था रोता भी था महात्मा ने पूछा क्यों भाई आपको क्या तकलीफ है बोले कि तकलीफ है ये महाराज कि ये जो हम कंबल ओढ़े हुए हैं ये छोटा है तो पांव ढकता हूं तो सिर खुल जाता है सिर ढकता हूं तो पांव खुल जाता है ये तकलीफ है आपको महात्मा ने कहा कि महाशय कंबल तो बड़ा हो नहीं सकता तुम अपने कोई जरा सिकोड़ लो ना अपना पांव और सिर दोनों सिकोड़ लो हाँ, तकलीफ नहीं होगी तो आपका खर्चा तो बहुत बढ़ गया है और आमदनी बढ़ती नहीं है ये तकलीफ है तो बोले भाई आमदनी नहीं बढ़ सकती तो खर्चा तो कम हो सकता है ना आप अपने खर्च को कम क्यों नहीं कर लेते तो दुनिया में जितनी तकलीफ है जितना दुख है हो वो बेवकूफी का है बोला अज्ञान जनित है दुख शरीर में जो दर्द है वो दूसरी चीज है और उसका दुख मानना दूसरी चीज है बोला दर्द दूसरा है दुख दूसरा है दर्द होने दो उसमें दुखी होने की क्या जरूरत है अगर कुछ भोग नहीं मिलता है तो आपको संयम करने का अवसर मिला पति पत्नी में से दोनों में से एक मर गए अब तुमको भगवान ने ब्रह्मचारी बनाया सन्यासी बना दिया भगवान ने आप क्यों नहीं भगवान के कृतज्ञ होते हाय हाय हाँ, मर गए अब लौटा ले आओ जाओ उस भगवान में से ले आओ अब लौटा के थोड़े वो आवेगी ना आवेगा तब तो कहो देखो और लोग तो साधुओं से संन्यास लेते हैं भगवान ने अपने हाथ से हमको संन्यास दिया अब हमको ब्रह्मचर्य से संयम से रहने का मौका मिला है पैसा न हो और त्याग बैरागी का सुख ले लो है? तुम्हारा कोई मददगार न हो एक अंत में रहने का सुख ले लो है? तुम्हारी वृत्ति अगर चंचल हो तो उसके नाचने का सुख ले लो नाच रही हो देखो नृत्य उसका नृत्य देखो तो असल में सारा दुख अज्ञान से पैदा होता है अज्ञान के सिवाय और कोई दुख का कारण नहीं है और अज्ञान मिटाने का एक ही उपाय है ज्ञान की उत्पत्ति और ज्ञान की उत्पत्ति केवल श्रवण से होता है श्रवण के सिवाय और कुछ कर्तव्य नहीं है संपूर्ण कर्तव्यों से मुक्त होकर श्रवण करते हैं और ये श्रवण ज्ञानोदय करके अज्ञान को मिटा देता है अज्ञान मिट गया तो मौत मिट गई मौत नहीं होगी अज्ञान मिट गया तो दुख मिट गया <clears throat> अज्ञान मिट गया तो जड़ता मिट गई इसलिए श्रवण से पड़ा न धर्म में साधन है धर्म में कुछ करना पड़ता है भक्ति में कुछ सोचना पड़ता है योग में कुछ दोहराना पड़ता है और तत्व ज्ञान में श्रवण के सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं होता है और सारे दुखों की और मृत्यु की और जड़ता की आपको मौत का डर नहीं रहेगा आपकी बेवकूफी जड़ता मिट जाएगी आपके सारे दुख मिट जाएंगे केवल श्रवण केवल श्रवण ओम नमो ब्रह्मानन्दाद्विलीलातलितलहरिका व्यञ्जितासङ्ख्यबिन्दुब्रह्माण्डप्रातरुमा विभुतविभुत्र्यक्षविस्तारसीमा संविद्भूमांशुमालोज्वलविमलरुचिध्वस्त विलासा सच्चिदानन्दतीर्थो मम मनसि मनागात्मभावं विवर्तु जब हम दूसरों को कोई काम करते देते जैसे गुड़ की डली हो मिश्री हो तो चींटी मक्खी दौड़ दौड़ के उस पर बैठते हैं और उड़ के बैठते हैं तो अनुमान होता है कि गुड़ बहुत मीठा होगा ये हनुमान है वो गुड़ की मिठास का पता नहीं है हनुमान गुड़ मीठा है, क्योंकि चींटी मक्खी आदि सबकी गुड़ खाने में प्रवृत्ति होती है इतने से ही गुड़ खाने लायक नहीं हो जाता अपनी परंपरा को भी देखते हैं हमारे पिताजी गुड़ खाते थे पितामा गुड़ खाते थे और आयुर्वेद शास्त्र में भी गुड़ की उपयोगिता वर्णित है शरीर के लिए थोड़ा गुड़ आवश्यक है तो पहले शास्त्र में पढ़ेंगे तो गुरु का परोक्ष ज्ञान होगा और दूसरों को खाते देखेंगे तो अनुमान से उसकी पुष्टि होगी और पहले दूसरे को दूसरों को खाते देखेंगे तो अनुमान होगा और पीछे शास्त्र से जानेंगे तो उसकी पुष्टि होगी लेकिन इतने से ही गुड़ का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ गुण का प्रत्यक्ष अनुभव कब होगा जब अपनी जीव पर रहेगा तो गुड़ की मिठास का अनुमान होना गुड़ की मिठास का परोक्ष ज्ञान होना और गुड़ का प्रत्यक्ष अनुभव होना ये तीन बात है अब एक बात है कि गुड़ मीठा है ये न नाक को मालूम पड़ता है न आपको को न त्वचा को हाथ में गुड़ की डली हो कभी खाया ना हो तो गुड़ कैसा है ये मालूम नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि गुड़ बहुत परिच्छिन्न पदार्थ है और उसकी मिठास का अनुभव केवल जीव से ही होता है ये जो परमात्मा का अनुभव है सिर्फ कान से हो कि सिर्फ त्वचा से हो कि सिर्फ आंख से हो कि सिर्फ पीठ से हो कि सिर्फ नाक से हो ऐसा नहीं जब तक सुनते हैं कि ईश्वर है ईश्वर है ईश्वर है तब तक ईश्वर के बारे में परोक्ष विश्वास होता है कहीं आंखों से भोजन है सुनते हैं विश्वास करते हैं जब देखते हैं कि बहुत से लोग ईश्वर का नाम लेते हैं ईश्वर की पूजा करते हैं ईश्वर के नाम पर इतने तन्मय हो जाते हैं कि संसार छोड़ बैठते हैं तो ईश्वर के बारे में अनुमान पक्का होता है तो भाई जैसे मकान बनाने वाला कोई होता है वैसे सृष्टि बनाने वाला कोई है परंतु ईश्वर केवल सुना हुआ हो और केवल अनुमान किया हुआ हो और ईश्वर का यदि प्रत्यक्ष अनुभव न होता हो तो वो तो रजिस्टर की चीज हो जाएगी और यह अंदाजी चीज हो जाएगी तो ईश्वर न तो अंदाजी चीज है कि हमने उसका एक अनुमान लगाया है और न तो शास्त्रों में रजिस्टर में लिखी हुई वस्तु विश्वास करने की वस्तु ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव होता है उस एक एक इंद्रिय से जिसका अनुभव होता है वो चीज अधूरी होती है जीप में आया नाक में नहीं आया नाक में आया आंख में नहीं आया आंख में आया नाक में नहीं आया <clears throat> तो वो चीज अधूरी होती है वो अधूरी होती है अच्छा बोले भाई मन में आ गया तो पूरी नहीं मन में आने से कोई चीज पूरी नहीं होती क्यों तो मन में जो चीज आती है वो सुसुप्ति के समय अवस्था विशेष में जब हम गाढ़ नींद में सोते हैं तो मन से अनुभव होने वाली वस्तु भी छूट जाती है तो वो भी पूर्ण नहीं है वो भी केवल जागते भर की है वो भी केवल सपना देखने भर की है ईश्वर तो पूर्ण तब होगा जब वो किसी इंद्रिय से न छूटे मन से न छूटे किसी अवस्था में न छूटे ईश्वर का नाम लेके जोर से पुकारो तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि वो सातवें आसमान में तो रहता है यहां नहीं रहता तो ईश्वर का भी अनुभव होना चाहिए संभावनाएं तो बहुत है अंदाज लगाने की बात बहुत है पर सुनी हुई बात अंदाज लगाई हुई बात जीवन में ठीक उतरती नहीं है हमने सिगरेट के ऐसे डब्बे लिखे हैं देखे हैं सिगरेट के जिन पर लिखा रहता है तो ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और जो लोग पीते हैं महाराज वो भी उसको पढ़ते हैं ये की स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है परंतु पीने वाले लिखी हुई बात कहाँ मानते हैं हम देखते हैं कि शराब पीते हैं लड़खड़ाते हैं नाली में गिरते हैं हमको तो एक श्रीमती ने बताया कि हमारे पतिदेव चार बजे पांच बजे सुबह जब लौटते हैं बाहर से